फिर उसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी और इंसानों तुम्हारे लिए कान आंखें और दिल पैदा किए तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो